हुआ होगा जो नहीं अच्छा पानी बरसा होगा तो अच्छी फसल कितना उत्तराखंड में उत्पाद हुआ प्रकृति का अच्छा उत्पाद है कितना कितनी हानि जनहानि बड़े बड़े बोटिंग बनाए बड़ा बड़ा बहुत अच्छा दो पाँच सबसे निवेदन है कि जीवन के लक्षण लोगों से अक्षु से तुमने लगाया अक्षी भी बन सकता है अक्षी भी बन ही तुम बोल तो कैसे बनेंगे तुम भूल यहाँ झाड़ू लगा लेना चाहिए कितना भूल लग खाना खाते हो ठीक है तो पैर रखते नहीं बनना झाड़ू पोछा हुआ खाली पैर रखते नहीं बनना आलस की हद है बच्चों सबके सब आलसी सबके सब किसी के भीतर स्वतः प्रवृत्ति नहीं करते आप काम करते एक दूसरे को भी लगा लगा देते क्या दिक्कत सबके संस्थान वही एक तो देखो छोड़ो एक को जाने उसको सब उसको सब उसको बिल्ली का गुस्सा समझो पता लेना दो एक तरफ देखो मत उसको अपना काम करो यहाँ झाड़ू लगाने क्या क्या सब बैठते ही बैठते ही मतलब पैर रखते नहीं लगा सब काम के लिए नौकर नहीं तो काम करना चाहिए सब एक से बहुत काम चाहिए तो इनको विकल्प करते हैं और जो अनेक नहीं है और जो वेट नहीं तो सारे सीट हकाराम नहीं कहे हकाराम तो नहीं कहे घकाराम नहीं कहे टकारांत टकारांत टकारांत टकारांत नहीं कहे ना तकारांत ठाकरे सबसे यकारांत वकारांत रेखांत लांग रा को रेख कह रहा बाकी में तकारांत बाकी में काल जितने हमने आपको संज्ञा कहा उसकी संज्ञा अज्ञात प्रांजल इनको तुम तो ये बात नहीं दी बहुत अच्छा वहाँ गर्मी में जो पूछा करो उसको होता है ठीक अच्छा है बहुत अच्छा याद करो तुम क्या करके आओगे अभिलाष से क्या करना हम्म।